सर्वव्यापी है व्यापक है तो सब जगह होगा तो अपने तो होनी पड़ेगा उसे जब वो सर्वव्यापी नहीं तो अगर हमारे हृदय में नहीं होगा तो सर्वव्यापी उसे कैसे कहेंगे वो तो मजबूरी उसके हमारे हृदय में होनी पड़ेगा लेकिन हमारे हृदय में एक और है और वो जीव भी तो अपने हृदय में तो दो दो बैठे हुए हैं जीव बैठा हुआ है परमात्मा बैठा हुआ है जैसे एक कमरे में कोई व्यक्ति खड़ा हो और शीशा लिए अपने मुंह देख रहा हो है तो कमरे में देखो दो दो व्यक्ति हैं है? एक तो दिन रूप व्यक्ति स्वयं है और दूसरा वो दर्पण जिसमें में प्रतिबिंब दोनों है कमरे में हम्म? <coughs> तो कमरे में जो दर्पण में जो व्यक्ति है वो तो पराधीन है किसके पराधीन है दर्पण के पराधीन है और उस दिन के भी पराधीन है तो लेकिन जो बिंब रूप है वो पराधीन है मनुष्य तो पराधीन नहीं है वो दर्पण में बिंब हो चाहे न हो दर्पण हो न हो वो तो अपने आप खड़ा हुआ है हर समय विद्यमान है <clears throat> तो जिस प्रकार से ऐसे दृष्टान्त में ऐसी करके देख लें इसी प्रकार से हृदय में एक चैतन्य तो, तो वो है जो सदा एक समान विद्यमान है न कहीं आए न जाए न घटने वाले और दूसरा वो चैतन्य है जो कि हृदय की वृत्तियां जब उत्पन्न होती हैं मन बुद्धि की वृत्तियां अंताकरण की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं तो उनमें प्रतिबिंबित होता है जब वृत्तियां उत्पन्न होती हैं तो उसका सिदाभास उत्पन्न करके उसकी भी अस्तित्व भाषित होता है जब वृत्तियां शांत होती हैं तो वो गायब भी हो जाता है जो गायब हो जाता है वो जीव है जो सदा बना रहता है वो परमात्मा हाँ? दोनों को अपने भीतर पहचान इसलिए कहते हैं कि सब उर्वासी वो परमात्मा सबके हृदय में बुद्धिमान भी है तो जब ये होगी परमात्मा को खोजो कहाँ है तो बस सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने हृदय में दोनों को देख लो जीव को भी देख लो परमात्मा को भी देख लो बिंब रूप भी देख लो प्रतिबिंब रूप भी देख लो दोनों के लक्षण पहचान लो और जो नित्य चैतन्य विद्यमान अपने अंदर में मिल जाए तो समझ लो वो परमात्मा मिल गया हाँ, ब्रह्म और वही ब्रह्म है बहत्तराग ब्रह्म उससे महान कुछ भी नहीं है इसलिए वो ब्रह्म है नित्य विद्यमान है इसलिए वो ब्रह्म है पूर्ण है इसलिए वो ब्रह्म है अब इसलिए कहते हैं कि वो सत्य सत्स्वरूप है ब्रह्म शब्द जो वो है उसकी सत्यता का सूचक है परमात्मा रूप है रूप है कि मैंने वो ब्रह्म है इसलिए निरी है निरी ई है कि मैंने कामना इच्छा तो निरी है कि मैंने उसकी कोई कामना नहीं कहीं कहीं हिंदी में शब्द प्रयोग ऐसा होता है कि दैनी दशा होती तो उसको भी मेरी सोचा अरे बेचारा मेरी प्राणी हम्म। ऐसे भी बोलते हैं तो परमात्मा ऐसा मेरे नहीं कि दैनी दशा हो वहां मेरी के मैंने ये वो परमात्मा ईहा रहित है वो कामना रहित है क्योंकि कामना से कोई संभाले ही नहीं तो जीव रही है जिसको कामना होती जो पहले अपने आप को अल्प समझे अभावग्रस्त समझे और फिर उनके जो उसे नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा करे तब ऐसी दशा जो होगी तब जी होगा परमात्मा के लिए तो अपने से भिन्न कुछ और है ही नहीं जब है ही नहीं तो कन्या दृष्टि करे हाँ। इसलिए निरीह है और धीरज रज के माने भी मलिनता है तो वो धीरज के मन परमात्मा में किसी प्रकार की मलिनता नहीं फिर कोई शुद्ध तत्व है निर्विकार तत्व इस प्रकार के परमात्मा विरज और अविनाशी अविनाशी भी आज अज है और अविनाशी है अनंत है और अविनाशी है परमात्मा अविनाशी मैंने उसका विनाश कभी नहीं होता सदा एक समान विद्यमान अविनाशी है तो मैंने उसको मृत्यु उसको नहीं देती मरण नहीं होता नाश नहीं होती इस प्रकार के परमात्मा सदा एक समान विद्यमान है यह अविनाशी भी है अविनाशी भी उसके सत्स्वरूप का ही सूचक सूचक है अगर अविनाशी होता तो सत नहीं कहलाता तो सत कहलाता इसके मैंने अविनाशी भी है यहां मोह पर कारण नहीं अब वो निर्मोहा पहले कहा था अब उसको स्पष्ट करते हैं तो देखो इस परमात्मा में मोह कहाँ हो सकता है ऐसा एक अद्वितीय अखंड एक रस परमात्मा तत्व सत्यानंद धन परम प्रकाश स्वरूप जो मैं भरा उसमें मोह हो तो कैसे हो सकता है हम्म। अभी कहते हैं कैसे नहीं हो सकता है कि तो ऐसे नहीं हो सकता दृष्टान में देख लो कि रल समुद्र के तम की जा ही कि सूर्य के सामने कभी अंधकार आ सकता है हम्म। अंधकार सूर्य के सामने खड़ी नहीं सकता वो स्वयं सूर्य इतना प्रकाशक रूप है तेज पुंज है कि तो, तो अंधकार को विरोधी है अंधकार अगर कहीं हो वहां स्वरूप सूर्य पहुंच जाए तो वहां अंधकार रह नहीं सकता इसी प्रकार से मोह तो एक प्रकार का अंधकार है अज्ञान अंधकार है वो मोह है और परमात्मा ज्ञान स्वरूप ज्ञान धन है तो जहां परमात्मा होगा वहां मोह नहीं रह सकता जहां मोह है इसके माने परमात्मा का प्रकाश नहीं है तो ही मोह है अंधेरा क्या है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है इसलिए अंधेरा है सूर्य का प्रकाश है तो अंधकार उपचा हुआ इसको समझने के लिए जो कहानी कही आती है कि एक बार अंधकार जो है बहुत परेशान हुआ <clears throat> ब्रह्मा जी से उसने शिकायत की कि ब्रह्मा जी हमारा जीवन तो बड़ा संकट में बना दिया आपने कहा कि ये सूर्य तो हमारा दुश्मन हमारे पीछे लगा दिया हम भागे भागे वो फिरते हैं पृथ्वी के तो चक्कर लगाते लेकिन ये सूर्य भी हमारे पीछे लगा हुआ है बरसों बरसों हो गए कल्प कल्प बीत गए हम भागे भागे करते हैं कोई शरण नहीं मिलती कब शरण आकर मिलेगा ब्रह्मा ने कहा था कि ऐसा ऐसा तो हमने तुम्हारा दुश्मन बना दिया है बुलाओ कहा सूर्य को तो सूर्य को बुलाया गया जब सूर्य आकर के भगवान ब्रह्मा जी के सामने खड़े हुए तो अंधकार जब भाग करके ब्रह्मा जी की कुर्सी के नीचे दर्जा से बैठ गया जाकर तो वर्मा जी ने कहा सूर्य तुमको तुम्हारे खिलाफ एक जो है एप्लीकेशन आई <laughs> तुम किसी को परेशान कर रहे हो सूर्य कहते नहीं मैंने किसी बात का परेशान नहीं किया किसी किसी दुश्मनी नहीं है तो नहीं है है तुम्हारे दुश्मन तो बुलाओ था कौन है क्या कहता है <laughs> वो तो नीचे बैठा हुआ है बोलता है श्री भगवान यही तो हमारी समस्या है कि हम उसके सामने नहीं आ सकते हम उसके सामने आ जाए तो हमारा जीवन ही अंत हो जाए बस कितने संबंध समझ लो कि परमात्मा का पर मोह का मोह है उसको मैंने परमात्मा के प्रकाश हृदय में आया नहीं प्रकट नहीं हुआ उसी के कारण से मोह है अगर परमात्मा का प्रकाश हृदय में हृदय में छा जाए आ जाए तो फिर मोह कैसे रह सकता है दोनों विरोधी हैं परमात्मा और मोह तो कहते हैं यह मोह कर कारण नहीं वो तो परमात्मा स्वयं प्रकाश का स्वरूप नहीं था पहले भी बालकाल में भी कह सके तो राम आनंद दिनीसा नहीं था मोह अनुसार लव देता उसी का अनुवाद देखो दूसरे प्रकार से यहां बोलिए राम सचिदानंद दिनेशा दिनेशा सूर्य के समान सचिदानंद से परमात्मा नहीं कहा मोह निशा लेसा वहां मोह रूपी रात्र लवलेस भी नहीं जैसे कि सूर्य में अंधकार लवलेस नहीं उसी प्रकार से नहीं वैसे करते तो भगत हेतु भगवान प्रभु राम भरो तनु भूत अब सजन भी पर आ गए अब देखो ये भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने सभी रूप धारण किया अब ये बात समझ में जानी चाहिए कि देखो ये जगत की जो रचना है कृत ये एक प्रकार से स्वाभाविक रचना इस प्रकार की परमात्मा है और परमात्मा की शक्ति है तो वो शक्ति उसकी व्यक्ति भी होगी व्यक्ति होगी तो जगत बनेगा बनेगा या तो परमात्मा शक्तिहीन हो हाँ? तो शक्तिहीन हो तो भी परमात्मा कैसा हो तो उसे शक्ति संपन्न तो होनी चाहिए अगर शक्ति संपन्न होता है तो उसकी शक्ति एक नया शक्ति है जिससे नाम रूप अपने जगत पर उत्पन्न भी होगा उससे फिर कौन रह सकता है अगर जगत उत्पन्न होगा नाम रूप तो फिर उसमें जो जीव है वो उत्पन्न होगा परमात्मा उसमें प्रतिबिंब हो होगा और जीव है उत्पन्न होगा तो जीव को तो वो हो गई होगा उसमें कोई परमात्मा किस तरह के न करे कितना तो स्वाभाविक है लेकिन परमात्मा जानता है देखो मेरा ही प्रतिबिंबित होकर के ये जीव मुझसे कोई भिन्न नहीं है लेकिन बेचारा दुखी हो रहा है अपने आप को अपनी सत्ता अलग मान रहा है और अपने आप अभावग्रस्त होकर के अपने आप को दुखी बनाए घूम रहा है तो फिर वो परमात्मा इस जीव को इस दुख से छुड़ाने के लिए प्रयास करता है और वो भी प्रयास किसी दूसरे के लिए अपने प्रतिबिंब अपने प्रतिबिंब के लिए अपने ही लिए वो एक प्रकार से आत्मकल्याण नहीं होता है इस प्रकार के समस्त जीवों के दुखों का निवारण करे इसके लिए फिर परमात्मा ने अन्य जीवों की भेद शरीर धारण करके उनको जीवन का मार्गदर्शन देता है कि देखो इस प्रकार से तो विचार करो और इस प्रकार से जीवन जियो और फिर ये माया का प्रकार तुम्हारे ऊपर नहीं हो वो बात ऐसे ही है जैसे कि कोई मुश्किल में जाए और किसी व्यक्ति को वहां मृगमंथ का जल दिखाई दे और तो उस जल के पीछे ढक दे उसको लेने के लिए तो वहां पर रहने वाला कोई व्यक्ति कहां से बिचारा तो देखो बढ़ रहा है ये पैसे तो दौड़ता रहेगा बेटा है चलो अब ये आ गया है मेरे स्थल में तो हम तो जानते हैं यहाँ जल नहीं है तो इसको बता देना चाहिए जिसको बेचारा नहीं हम्म, तो वह आदमी दौड़ता है उसके पास जाता है क्यों डर रहा है तो खाने के लिए बढ़ रहे हैं अरे ये खाना मैंने वहीं पर महावत दौड़ा ये तो भ्रांति है तो भ्रांति तो जैसे कोई व्यक्ति मृतन में जाएगा तो मरुभूमि में उस जल की मृग मरीचिका का लगना दिखाई देना स्वाभाविक है ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति के साथ किसी की दुश्मनी है तो एक ध्यान को उत्पन्न की गई और उस व्यक्ति को फंसाया गया ऐसा कुछ नहीं किया ये एक नेचुरल फिनोमिना है ये अपने आप इसी प्रकार का होते ही है और इस प्रकार की भ्रांति व्यक्ति को उत्पन्न होती है इसी प्रकार के जीव को भी इस जहाँ जीव भाषुदा तो उसमें ध्यान उत्पन्न होता ही है और उसके अपने से भिन्न कोई व्यक्ति जो होती है उसमें तेरा मेरा तेरा करके भेद लगता ही है और फिर शरीर आदमी मन तो लगता ही है अपने इन वस्तुओं वस्तुओं में नमक की क्या आता ही है ये तो एक नेचुरल है इस प्रकार का होगा लेकिन जैसे मृतन में कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जो भ्रांत में नहीं खड़ा हुआ है वो दयापूर्वक उस व्यक्ति को बता देता है कि अरे तुम कौन से डर रहे हो पानी नहीं है मृतन में तो ऐसे ही दिखता है तो ऐसे ही परमात्मा जो है उसका काम केवल अपना है क्योंकि देखो तुम जो कुछ देख रहे हो उसका भ्रांति है ऐसा है कुछ नहीं इतना तो समझाने के लिए ज्ञान देने के लिए उसको उस तरह से निवारण करने के लिए परमात्मा उपाय करता है ज्ञान भी देता है भक्ति बनाना जब जीव परमात्मा की तरफ से उसकी बात को सुनने को तैयार होते तो जीव भरते हुए और जो परमात्मा की बात सुने नहीं तो भरते हुए भगवान ने इतना गीता में अर्जुन को इतना उपदेश दे दिया गया अर्जुन ने भी सीख लिया दुनिया भर के लिए उपदेश उपलब्ध है अगर गीता भगवान अंत अर्जुन भगवान का उपदेश गीता को कोई सुने पढ़े ध्यान दे तो तो भगवान का भक्त हो गया और कोई कह रहे सब फजूल की बातें लोगों ने अपनी पैसा कमाने में लिए किताबें छाप दी इससे क्या बात है ऐसा करके समझ तो भगवान का भक्त नहीं तो गुरु का भक्त क्या है जब गुरु की बात को तरफ ध्यान दे उनकी बात को मानने को तैयार है समझने को तैयार है तो गुरु भक्त है और बात गुरु की बात मिलने न करे गुरु का भक्त है तो क्या भक्त मात्र भक्त है पुत्र भक्त है भक्त मानता नहीं तो कहा भक्त है भक्ति में भी कोई बहुत भारी एक कोई चिकनबाजी नहीं है कोई भक्त में कोई उलझन वाली बात नहीं सीधी सी परमात्मा चाहता है जो तो तुम भ्रांत में पड़े हुए हो और जहां जंजाल में फंस गए हो तुम तो हाथ निकले निकलो उसकी बात को सुनो तो तुम भक्त है और अपने आप को सरकार तुम्हारा हो उसकी बात को सुनेंगे और उसकी बात को नहीं सुनेंगे तो अभक्त है रहे जंजाल में तो कहते हैं इस प्रकार से कि फिर वही परमात्मा भगत हित भगवान प्रभु राम भरो तनभूत बस उन्हीं भक्तों के लिए जो चाहते हैं कि उनका उद्धार हो जाए छुटकारा हो जाए संसार सागर से उनके लिए भगवान ने उनको समझाने के लिए जब तक वो मनुष्य से धारण न करें तब तक उनका कम्युनिकेशन कैसे हो हम्म? जब वो भगवान ने मनुष्य भी धारण किया जैसे मनुष्य वैसे मनुष्य का सभी धारण किया उनके सामने आकर वो सब अब अर्जुन मान लो मोह में पड़ा हुआ है अब जब तक भगवान शरीर धारण किए हुए भगवान कृष्ण नहीं है तो अर्जुन से बातचीत कैसे करे और कैसे उसको समझाएं इसलिए भगवान जो हुए मन शरीर धारण करके फिर जीवन का रास्ता बताते हैं ज्ञान का मार्ग भक्ति का मार्ग कर्म का मार्ग जीवन जीने का वो लाइफ तरीका कैसे जीवन जिए कैसे तुम्हारा उद्धार होगा संकटों से कैसे बचोगे उसको बताता समझाता कुछ करके दिखाता है कुछ समझाता है बताता है नाना प्रकार से उपाय करता है और ये भगवान का बस यही काम है ऐसे परमात्मा निर्गुण ब्रह्म करता है अब होता है इसमें कोई कारण स्थान नहीं लेकिन जीवों के लिए उनके उद्धार के लिए परमात्मा का काम नहीं जीता भगवान ने तीसरे अध्याय में सत्य अध्याय में पांचवें अध्याय हर इस बात को कहा क्योंकि तो काम बस यही है कि अगर मैं शरीर धारण करके सब प्राणियों को उनको सम्मान करने लगाए जीवन की दिशा में लगे तो पूरी सारा संसार ही नष्ट भ्रष्ट होगा ये सब के सब प्राणी दुखी होते होते पैर मेरा ज्ञानी हो जाए ऐसे ऐसे जाल में फंस जाए तो कुछ कहना नहीं इसलिए हमें इनका उद्धार करने के लिए इनको मार्गदर्शन करना पड़ता है तुलसी कहते हैं भगत हो तो भगवान प्रभु राम भरे तन भू तो भगवान ने के लिए भक्तों के लिए तनु शरीर धारण किया और स्वरूप कामन परम फिर भगवान ने परम पवित्र स्वरूप की प्राकृत नर अनुरू जैसे कोई प्राकृत हमने सोचते हैं वैसे ही उन्होंने भी चरित्र किए प्राकृत में जैसे वो रह करके अगर भगवान मनुष्य के समान शरीर धारण करके मनुष्यों की तरफ से कर्म न करें अगर मान लो भगवान आकर के सीधे सीधे यही कह दें कि देखो मैं भगवान ही तुम्हारे तो पास आ गया हूँ और मैं तुमको बताना आया हूँ कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए तो जीव ये भी कह सकता है भगवान हो तो जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं लेकिन हम लोग तो भाई जीव हैं हम लोगों से कैसे होगा जैसे आप बता रहे हम कैसे रहेंगे तो भगवान ने कहा देखो जैसे हम रहते के दिखाते हैं कैसे करके दिखाते हैं एक उदाहरण दिया तो एक चिड़िया तो चिड़ियों के बच्चों का एक वो भी नीचे भी स्वामी जी की पूजा की ऐसी समझो कभी कभी कहानी उदाहरण भी बड़ी सुंदर जैसे चिड़िया ने एक अंडा दिया भुआ रखा पर और उसने अंडा दिया अंडा का तरफ फूटा बच्चा निकला पहले ला करके उसको समझ से जाने लगती चिड़िया ने सरकार का भाव को चुड़ा ला करके दाना ला के उसको मुंह में रखते हुए बच्चा पर बड़ा हुआ उसको पंखे निकले जब पंखे में खुले पंखे फटा फटा जब चिड़िया आने लगे तो पंखे फटाने लगे तो चिड़िया देख रही जब उसके पंखे निकल आए पंखे निकल आए और जब उसके पंखे थोड़े बड़े हो जाते हैं रंगने लायक होते तो चिड़िया समझ जाती है ये रंगने लायक हो रहा है और चिड़िया फिर उसके पास बैठेगी और कूद करके नीचे आएगी फिर भी पर बैठेगी फिर कूद के नीचे आएगी दाने नहीं सुनाएगी बल्कि कूद कूद करके दिखाएगी डर तो देखा हम कैसे कैसे कूद लग जाते हैं और कैसे पंखे फट जाते हैं तो नीचे आ जाते हैं सब जिससे जिससे जिससे जिससे फिर उसके जो हिम्मत बन जाती है कि जैसे ये पंखा फट जाते हैं और टूट करके नीचे आ जाती है ऐसे हम भी पंखे फट रहे हैं तो ऐसे टूट करके हम भी नीचे पहुंच जाएंगे पंखे फटाएंगे रहे तो हम भी ऐसे करके ऐसे बैठ जाएंगे तो वो उसके ऊपर के पंखा फट करके नीचे झोंकता है झोंकता हिम्मत नहीं करती झोंकता हिम्मत नहीं करती लेकिन एक बार उसको जहां हिम्मत कर गई तो फिर ऐसा करके नीचे लंबी नीचे गिरता है फिर उसके बाद में फैसला करने पर उड़ने लगता है तो जैसे चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है ऐसे ही भगवान मन से कहीं धारण करके आते हैं और जीवों को उड़ना सिखाते हैं और कहीं जाल में बल्ले में पड़ गए ऐसे जैसे कि प्राकृत मनुष्य सत्कारी का जीवन जीते हैं वैसे जीवन जी करके दिखाते हैं मेरे तो जफा अमीन को देश भरे नृत्य करे मत को ये सभी लोग पैसा भगवान का है बताते हैं क्योंकि जैसे जैसे कोई अक्षर है और वो है कोई विशेष रूप धारण करके उसकी एक्टिंग करे जैसे कोई अक्षर कोई भिखारी की एक्टिंग करे कोई भिखारी कोई व्यक्ति की एक्टिंग करे या कोई जो है कोई नेता की एक्टिंग करे प्रधानमंत्री को अर्पण करे राष्ट्रपति को अर्पण करे अगर जैसे अर्पण करेगा वैसे भी ध्यान करेगा और उन ध्यान करके वैसे ही भाव दिखाएगा ऐसा तो बस ऐसे भगवान करते मन सही ध्यान कर लिया राजा के पुत्र बने तो राजकुमार का भाव धारण किए हुए उसी प्रकार से रह गए कहीं जो है जाने के पद पैदा हो गए तो वहां जाकर दुनिया कराते हैं तो बस गाँव पर दुनिया भी कराने वाला था भाव दिखाने लगे ही एक दिन वो हो गए एक विप्र के घर में पैदा हो गए तो वहां पर ब्राह्मणों की तरह से सब वो पूजा पाठ वेद शास्त्र का अध्ययन इत्यादि और उसी प्रकार का निर्णय करने लगे ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए ब्राह्मण के घर में नाटक करने लगे सत्रीय घर में पैदा हो सत्रीय घर नाटक करने लगे जाले घर में पैदा हो जाले घर नाटक करें अब जहां जहां शरीर जैसे धारण कर लिया यहाँ उसी प्रकार धारण करके इसके प्रवेश में जिस प्रकार के लोग कार्य करते हैं जो प्रयत्न करते हैं उसी उसी प्रकार से वो भी करने बाल रूप में जैसे बालक रोग बालक रोते हैं खेलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं ये सब करते हैं तो वो भी हमें करने लगे तो लगे जो है हाँ, बिल्कुल बालक उसी प्रकार के बनते हैं तो जब समान रूप से बच्चों को होता है उसी प्रकार का तब उसको विश्वास पैदा होता है तो भगवान इस प्रकार के समय करना पड़ता है जीव के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए जिससे कि समझे जिस प्रकार के बता रहे हैं उसी प्रकार को हमें करना चाहिए अगर कोई बच्चे हमारे पास आए और ये कहे कि देखो तुम्हारे सारे दुख दूर हो सकते हैं हम कहेंगे तुम्हारा दुख दूर हो गया तो दूर हो सकते हैं हाँ? तो वो जब ये दिखाए कि देखो हमारे कोई दुख नहीं है इसको हम कभी दुखी न देखें तो हम इसको विश्वास नहीं करें कि हमारे भी दुख दूर करने का उपाय बता सकता है जैसे इसको अपने स्वयं का रोटा भरे हमारे तो तुम्हें दुख दूर कर देंगे पता क्या दुख दूर कर देंगे चलो तुम हमारे में बदल करो इसलिए जो है परमात्मा उसी प्रकार से रूप ध्यान करके मानवीय रूप उसी प्रकार से जब लगे व्यक्ति को ऐसा भरोसा में प्राप्त हो जाएंगे हाँ, जो बताएंगे उसी को तो कहते हैं यथाने के देश भरे मत करें मत को कोई कोई तो भाव दिखा रही जैसे वैसे भाव दिखाते आतंक हो मत हो लेकिन आत्म हो समय ये भी जानता है कि हम न मनुष्य हैं न शत्रु हैं न हम ग्वाले हैं न हम ब्राह्मण हैं न हम शूद्र हैं <clears throat> न हम मछली हैं न हम कछुए हैं कई रूप धारण कर लो मुस्लिम रूप धारण कर लिया कोई जानता है कि मसल हम करें न हम सिंह है न हम मनुष्य हैं हम तो गुणों से हैं ये रूप धारण किया करना है अपने इन स्वरूपों को धारण करके जीवों को ये भी दिखाता है कि जैसे सब हमारे ही रूप है जो हम वो सत्य है जैसे हम रूप धारण किए तो सत्य रूप धारण किए जैसे हम जानते हैं कि हमारे मैंने रूप हैं और ये केवल हम नाटक करके प्रदर्शन कर रहे हैं कैसे तो पूंजी भी कर रहे हैं तुम तो अपने को क्यों भूल गए हमारे तुम्हारे में केवल अंतर हुआ है कि हम अपने आप को भी जानते हैं जो नाटक हम कर रहे हैं उसको भी जानते हैं और तुम जो नाटक कर रहे हो तो जानते हो लेकिन तुम क्या है सदैव भूल अब नाटक ही मत चले तुम तो अपने आप को याद करो और तुम नाटक करते रहो तो कोई बात नहीं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी दुख नहीं होगी तुम्हें भूख नहीं करोगे तो भी तुम्हें दुख नहीं होगा तुम कहीं राजा बन जाओगे तो भी तुम्हें सुख नहीं होगा लेकिन तुम अपने को भूल गए तो फिर तुम्हें भूख नहीं तो नहीं तो रोते रोते तुम्हारा तो जिंदगी बीतेगी और तुम्हें कभी जरूरत पड़ने नहीं लगेगी इसलिए अपने आप को जाने वो जमाने के लिए भी परमात्मा इस प्रकार ध्यान करता कैसा अगर हम जीव हो गए तो कैसे मैं अपने आप को जाने हम तो जीव रही है अरे भगवान कैसा देखा हम भी तो तुम्हारी तरह सभी ध्यान किए हम कहाँ जीव जैसे हम परमात्मा है जैसे तुम परमात्मा है